उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है वो अल्लाह ताला की राह से रोकते हैं बस उनके लिए रुस्वा कन अजाब है